वो इंतज़ार नहीं करते मगर ये कि अल्लाह ताला और फरिश्ते उनके पास बादलों के साइबानों में आएं और काम पूरा कर दिया जाए और अल्लाह ताला ही की तरफ सारे मामलात लौटाए जाते हैं